ने जमीन और आसमानों को और उन सभी चीजों को जो उनके बीच हैं सत्यानुकूल और एक नियत समय ही के लिए पैदा किया है मगर बहुत से लोग अपने रब के मिलन का इनकार करते हैं और क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का परिणाम दिखाई देता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं वे इनसे ज्यादा शक्ति रखते थे उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा था और उसे इतना आबाद किया था जितना इन्होंने नहीं किया है उनके पास उनके रसूल प्रत्यक्ष निशानियां लेकर आए फिर अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था मगर वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا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 पुनरावृत्ति करेगा और ये उसके लिए ज्यादा आसान है आसमानों और जमीन में उसका गुण सर्वोच्च है और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है वो तुम्हें खुद तुम्हारे अपने ही व्यक्तित्व से एक मिसाल देता है क्या तुम्हारे उन दासों में से जो तुम्हारे स्वामित्व के अधीन हैं कुछ दास ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए माल और दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के साझीदार हों और तुम उनसे उस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने समकक्ष व्यक्तियों से डरते हो इस तरह हम आयतें खोलकर प्रस्तुत करते हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं मगर ये जालिम बिना समझे बूझे अपनी कल्पनाओं के पीछे चल पड़े हैं अब कौन उस व्यक्ति को मार्ग दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो ऐसे लोगों का तो कोई सहायक नहीं हो सकता